प्रथम मंत्र समाप्त द्वितीय मंत्र चलिए ननु न सन्ति ब्रह्मविद पंचाग्निविद सांप्रतम अनुपलम्भाद इत्याशंक्य पूर्ववत विद्वत अनुभव विरोधम आह ब्रह्मज्ञानी अभी कोई है नहीं किन दिखते नहीं अनुपलम्भाद पंचाग्निविद पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थ से कोई सांप्रतम अनुपलम्भात न सन्ति ऐसा शंका कर्ण से उत्तर देते पूर्ववद विद्वत अनुभव विरोध माह विद्वान का अनुभव होता है उसका विरोध कहते ये ज्ञान कोई है ही नहीं विद्वान ऐसा नहीं कर्म करने वाले का अभाव हो सकता है ज्ञानी का अभाव नहीं होगा बहुत नहीं होते हैं बहुत लोग साधु संत के निंदा करने में बड़े आग्रह से करते हैं साधु सब वृत्ति में सब नहीं रह पाते हैं किंतु कोई तो है संन्यास धर्म पालन करने वाले मिल जाएंगे किंतु गृहस्थ धर्म पालन करने वाले कितने गृहस्थ है जो लोग निंदा करते हैं उनसे पूछो गृहस्थ धर्म पालन करने वाले कितने हैं पहले गृहस्थ बनने के लिए अधिकार है नहीं विचार करो गुरुकुल वास करके वेद अध्ययन करने के बाद गुरु की अनुमति से फिर गृहस्थाश्रम में जाना है उसके पहले यज्ञ में बैठे वेदाध्ययन आदि होने के बाद विधिवत लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने से विवाह नहीं होता है विवाह विधिवत होना चाहिए सब खर्च करते बहुत किंतु विवाह विधिवत जिस कर्म होना चाहिए ब्राह्मण पंडित जो करना चाहिए नहीं कर पाते उनको समय कम देंगे एक घंटा के अंदर पूरा कर लो बाकी सब नाचने कूदने में समय लगा देते हैं इसलिए पंचाग्नि विद नहीं हो सकते वर्तमान किंतु है ही नहीं ऐसा नहीं कोई हो सकते ब्रह्म ज्ञानी को है न पर क्या पता चलेगा किसको विद्वत अनुभव विरोध कहते हैं विद्वान का अनुभव होता है श्रुति कहती है ऐसे हमेशा ये श्रुति में जो कही गई ये विद्वान का अनुभव इसको लेना होता है और बाकी साधारण लोक प्रसिद्ध लोक उसको लेकर के नहीं लोक में तो सामान्य बड़े मूढ़ को भी ज्ञानी कह देंगे धन संपत्ति बहुत हो गया था लोग उनके चमत्कार दिखाने वाले को मान लेंगे इसलिए शास्त्र प्रसिद्ध लेना है विद्वत प्रसिद्ध और बाकी जो विवेकी उनको परमात्मा कृपा करके प्राप्त कराते हैं अधिकार होने पर ऐसे परमात्मा की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं यहाँ दिखाते विद्वत अनुभव विरोधम आह पहले भी कहा था विद्वान का ये अनुभव यह सेतु रीजा नाना अक्षरम ब्रह्म यत परम अभयम तितीर्षताम पारम नचि नाचिकेतम सके मई ईजाना नाम सेतु ईजाना याग आदि करने वाले यजमान कर्म करने वाले के सेतु के समान संसार दुख से पार होने के लिए बंध के समान वो अक्षरम यत परम ब्रह्म वो अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म है अभयम तितिरसताम पारम पारम तितिरसताम पार होना जो चाहते हैं उसे ब्रह्म को है नाचिकेतम सके मही हम जान सकते हैं यह सेतु इव सेतु सेतु वास्तव नहीं सेतु सदृश सेतु इव सेतु शब्द कहा गया ईजाना नाम कहा था यजमाना नाम यागादि कर्म करने वाले कर्मिणाम दुख संतरणार्थत्वात् इसलिए सेतु कहा गया सेतु के समान दुख संतरण पार होने के लिए बंधादि पुल बनाते हैं समुद्र नदी को पार करने के लिए दुख संसार से पार करने के लिए ये सेतु के समान तो अग्नि तम वयम ज्ञातुम चेतुम सकेमहि नाचिकेतम सकेमहि कहा न अग्नि जो पंचाग्नि में नाचिकेता नाम का अग्नि गया अग्नि विद्या का उपदेश क्या था नाचिकेतु अग्नि तम वयम सकेमहि सकेम ज्ञातुम चेतुम च सकेमहि जान सकते हैं और उसका चयन कर्म कर सकते हैं और दूसरा है जो अभयम ब्रह्म उसको भी जान सकते हैं नाचिकेत अग्नि भी और ज्ञान ब्रह्म भी पहले नाचिकेतम सकेमहि उसका अर्थ किया दूसरा है किंच यच्च अभयम भय शून्यम संसार से पारम अविद्यमानम भयम यस्मिन जिसमें भय है ही नहीं भय शून्यम संसार से पारम तितिर्षताम तत्वमिच्छताम संसार के पार जो होना चाहते करना चाहते हैं ये ब्रह्म विदाम यत परम आश्रयम परम परम ब्रह्म है आश्रय अक्षरम न क्षरते इति अक्षरम क्षर नहीं होता है षडभाव विकार शून्य ब्रह्म वो जो ब्रह्म है परोक्ष नहीं किंतु प्रत्येक भूतम आत्माख्यम जो ब्रह्म है परम अक्षरम आत्माख्यम आत्मा आख्यायस्य आत्मा ही उसका नाम है वास्तव तो कोई नाम रूप नहीं ब्रह्म नाम भी मिथ्या है तो भी उसको आत्मा शब्द से कहते हैं जिसको आत्मा शब्द से कहते हैं वही अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित वही आत्म रूप से स्थित है आत्मा अखम ब्रह्म वही ब्रह्म परोक्ष नहीं है अपने स्वरूप है पारमार्थिक स्वरूप है उसके अज्ञान के कारण देहादि में हम बुद्धि होती है विवेक करने पर श्रवण मनन करने पर साक्षात्कार होता है तो स्पष्ट होता है आत्म तत्व एक अद्वितीय है वही ब्रह्म है सौ के अंदर बाहर एक ही तत्व है तच्च ज्ञातुम मही नाचिकेतम मही जैसे कहा गया अग्नि के हो अग्नि का ज्ञान चयन हम कर सकते हैं उपासना भी करते कर सकते हैं इसी प्रकार जो अभयम तितिसताम अपहारम ब्रह्म उसको भी ज्ञातुम मही हम जिसको जान सकते जानते हैं है मैं पूर्वेशाम यद्यपि ब्रह्मवित्वादि संभवती प्रभावातिशयात प्रभाव प्रभावातिशयात प्रभावा अतिशय प्रभाव है इसलिए पूर्व में ब्रह्मवित्वादि संभव है ब्रह्मवित्वादि ब्रह्मवित्व और इससे तपस्या साधन भजन सब करना संभव बहुत प्रभाव था वो तो ठीक है किंतु तथापि न आधुनिकानां अल्प प्रज्ञानाम संभवती ये केवल शास्त्र में नहीं ऐसे कहने वाले होते हैं आजकल बड़े समझदार व्यक्ति भी प्रसिद्ध होकर के बड़े विद्वान हो गए पूजा ग्रहण करते समय तो ब्रह्म ज्ञान जैसे बढ़ जाएंगे वो भी कहते कि आजकल थोड़ी से होता है वो कहते आजकल ज्ञान नहीं होता है स्वयं तो बैठेंगे जैसे ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान हो गया वो कहते आजकल ऐसा थोड़ी होता है मतलब आजकल तपस्या करने से कुछ नहीं होता है ऐसे कहने वाले भी स्वयं जो साधन भजन नहीं करते उनको लगता है बिल्कुल असंभव है असंभव तो है जिनको कुछ दूर भी नहीं जाते हैं तो उनको लगता है बहुत असंभव है जो जाते हैं उनके लिए असंभव नहीं जाने वाले जाते हैं और नहीं जानने वाले के लिए असंभव लगता है थोड़े आगे नहीं गए तो सबका अनुभव होगा संस्कृत पढ़ने के पहले कहीं संस्कृत ग्रंथ संस्कृत श्लोक पढ़ने के लिए डर लगता है बहुत लोग पहले संस्कृत नहीं पढ़ करके हिंदी हिंदी पढ़ेंगे अभी कुछ करते हैं अभ्यास करने पर धीरे-धीरे संस्कृत इतना अभ्यास हो जाता है तो संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है हिंदी को छोड़ देते हैं हिंदी को तो नहीं देखते हैं जिन जो वहाँ तो नहीं पहुँचे उनको भी असंभव लग सकता है कि हिंदी नहीं पढ़ना है संस्कृत केवल पढ़ना जो संस्कृत थोड़ा पढ़ते हैं संस्कृत सरल पहले उच्चारण कठिन होता है एक श्लोक बोलना कठिन होता है सीखने के बाद बोल लेते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ना पहले नए नए आते हैं उनको पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए उच्चारण करने के लिए बड़ा कठिन होता है सब में इस प्रकार पहले प्रारंभ में तो असंभव जैसे लगता है करने पर होता है तो ब्रह्मवित्व आदि आजकल नहीं हो ब्रह्म ज्ञान हो नहीं होता है ये नहीं साधन संपन्न होने पर जो प्रयास करते उनको प्राप्त होता है आप नहीं करते तो आपको प्राप्त नहीं है इसका नहीं कि आजकल नहीं होता है समय का कोई दोष नहीं है किंतु ये बल्कि कलयुग में सरल से होता है अन्य युग में बहुत तप करना पड़ता था अभी कम हो रहा है अगर नहीं करे तो कुछ नहीं हो सकता है पूर्वेशाम यद्यपि ब्रह्मवित्वादि संभवति प्रभावति च तथा भी ये शास्त्र में पहले कहा न आधुनिकाना अल्प प्रज्ञानम अल्प बुद्धि वाला भी न संभवति इत्याशंक्य ये कहते नहीं चेतनत्व स्वाभाविक ज्ञातृत्व योग्यता अस्ति इति अभिप्रेत तात्पर्य महा पहले सब तो चेतन थे आजकल सब तो जड़ हो गए ऐसा है क्या पहले जीव सब चेतन थे आजकल कहाँ चेतन है जैसे पहले चेतन थे अभी चेतन है पहले औषध से रोग निवृत्ति होती थी आजकल औषध से रोग निवृत्ति नहीं होती पहले रोग होने पर डॉक्टर के पास जाते थे अभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कुछ लोग कहते हैं बोले आजकल कोई संत ही नहीं भेजाल सब कहेंगे पहले सब थे आजकल सब चीज भेजा भेजाल है कोई शुद्ध वस्तु नहीं है इसलिए साधु भी कोई शुद्ध नहीं गुरु भी कोई नहीं होने के योग्य नहीं करके सबको मना करके स्कंद पुराण में आता है कलयुग जो प्रारंभ होता है कली के दूत तो प्रवेश करना कठिन होता है तो कली राजा उपदेश करते जाओ गुरु बन करके लोगों को उपदेश करो शास्त्र विरुद्ध मत में चलाओ तब हमारा साम्राज्य स्थापन होगा तो वही उनके दूत बन करके शास्त्र विरुद्ध मत उपदेश कुछ ना कुछ वैराग्य आदि विरोध दिखाएंगे लोग उनको मानेंगे लोग मानने के बाद उनको कहें गुरु नहीं करो यही पहले शास्त्र विरुद्ध मत गुरु नहीं करो करके दूसरे रास्ता में लोग उनके पीछे चलेंगे बड़े अच्छा स्वामी हमारा बहुत भक्त कहते हम तो एक ही स्वामी ने देखा महात्मा को देखा जिन्होंने जो दान करने के निषेध करते हैं कितने बड़े महात्मा हैं दान करने के निषेध करते हैं अच्छे महात्मा है ना जो कहते दान नहीं करो बोलते कीचड़ में पैर लगाना फिर धोना उसके बाद धन नहीं कमाओ धन कमाना फिर दान करना कितने युक्ति बताते मर्म क्या है बड़े-बड़े सा कहते कीचड़ में पैर लगाओ फिर धोना यही होता है जी धन धन कमा फिर दान करो इसी इस बराबर हो गया अब या कीचड़ में पैर नहीं लगा धन नहीं कमाओ लोग सोते बहुत अच्छा है धन कमाना बंद कर देता है कोई दान करना बंद कर देंगे <laughs> धन कमाना कौन बंद करेगा धन मिलता है उसको छोड़ना कौन होता है तो ये सब विभिन्न कली युग में विपरीत उपदेश करने वाले कहते कोई जरूरत नहीं आजकल कोई है ही नहीं ज्ञानी आजकल क्यों नहीं आजकल डॉक्टर भी सब स्थान में कहीं कहीं कोई डॉक्टर लोग भी कुछ करते हैं सब दूषित हो गए तो फिर उस बीमारी होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाओ ये सिखा दो आजकल सब दूषित है तो डॉक्टर भी दूषित है दवाई भी दूषित है इसे रोग होने पर दवाई नहीं खाओ ऐसे कोई सिखाते हैं ना कोई कारण मानता है और आजकल लड़के लोग खराब है तो मां लड़की को शादी नहीं कराओ अथवा लड़की लोग आ गए तुम्हारे घर में लड़की पुत्र के लिए पुत्र बहू नहीं लाओ ये सिखाओ गुरु नहीं करो सिखाते हैं बाकी तो सब करना है <laughs> गुरु नहीं से <laughs> ये सब बहुत ऐसे लोग होते हैं ये सब नहीं है शास्त्र में जैसे कहा गया वो सब वेद सब काल के लिए समान है कोई करता नहीं करता कुछ नहीं किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होता है योग्यता नहीं बात नहीं जो प्रयास करेंगे उनको ज्ञान हो सकता है यही सामान्य है तो स्वाभाविक ज्ञातृत्व योग्यता अस्ति चेतन है कोई जड़ नहीं हो गए पहले चेतन थे अभी जड़ हो गए कलिकाल में ऐसा नहीं चेतन है और अभी अल्प प्रज्ञा अभी भी कोई बहुत अच्छे प्रज्ञा वाले होते हैं अभी भी बहुत जो जैसे आजकल कहते हैं विज्ञान में बहुत आगे चले गए बुद्धि तो अच्छी है ना बुद्धि को लगाते हैं आजकल चोरी करने वाले बड़े अच्छे चोरी करते हैं तो बुद्धि उनकी नहीं बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हाँ, गलत मार्ग में चलते हैं तो बुद्धि तो है अल्प बुद्धि वाले नहीं पहले इतनी चोरी करने में इतने चमत्कार नहीं आजकल जैसे चमत्कार चोरी करने वाले में <laughs> कैसे गोले बम गोले बारूद अपने आप बना देते कहते हैं तो पहले से मालूम नहीं तो अभी बनाते ये तो बुद्धि है किंतु गलत मार्ग में चलते हैं नहीं तो योग्यता नहीं है बात नहीं योग्यता है उसको लगाना है उचित मार्ग पर लगाने पर सामर्थ्य है इत अभिप्रेत तात्पर्य महा परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म वेद आश्रय वेदितव्य इति वाक्यार्थ ये परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों कर्म ब्रह्म विद आश्रय कर्म विद आश्रय होता अपरब्रह्म ब्रह्मविद के आश्रय परब्रह्म कर्मविद विद है कर्म करने वाले कर्मयोगी वो उनके आश्रय है अपर ब्रह्म उनको उपासना भी करनी चाहिए अपर ब्रह्म है पंचाग्नि विद्या कर्म भी करे उपासना भी करे कर्म कर्मी के आश्रय है अपर ब्रह्म पर ब्रह्म ये ब्रह्म ज्ञानी क्या इसलिए परापरे ब्रह्मणि परम च परम च परापरे दो कर्म ब्रह्मविद आश्रय कर्म ब्रह्मविद कर्मविद और ब्रह्मविद आश्रय विदित विद वाक्यार्थ ये समझना है दो वचन दो जो कहा गया पारमार्थिकता द्वितीय ब्रह्म है व्यवहार में जैसे जीव जड़ चेतन भेद दिखता है जीव जीव का भेद दिखता है जीवेश्वर का भेद दिखता है इसी प्रकार पर अपर ब्रह्म व्यावहारिक भेद है पारमार्थिक तो अद्वितीय है और व्यावहारिक प्रपंच कोई भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है इसलिए उसको सत्य पारमार्थिक नहीं कहते वो अनिर्वचनीय सत नहीं असत नहीं बंध्या पुत्र जैसे असत तुच्छ ऐसे प्रपंच असत नहीं है ब्रह्म जैसे सत नहीं उभय भी नहीं है उसको कहता अनिर्वचनीय सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको मिथ्या शब्द से भी कह देते हैं मिथ्या है पारमार्थिक नहीं तो मिथ्या है तो ये भेद भी पारमार्थिक नहीं किंतु व्यवहार में जो अपर परब्रह्म परम ब्रह्म निर्विशेषम परम ब्रह्म कर्तु अनीश्वराः ये मंदास्ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणे अल्प बुद्धि वाले अंतकोण शुद्ध नहीं तो निर्विशेष परब्रह्म साक्षात जो शास्त्र में कहा गया उसको साक्षात्कार करने के लिए असमर्थ होते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए सविशेष ब्रह्म का निरूपण आया शास्त्र में सविशेष ब्रह्म का उपदेश है उपासना करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए एतयोरेव ही उपन्यास कृत ऋतम पिबंता आविति ये परापर करके परब्रह्म है और अपर ब्रह्म वही जीव रूप हो रुचिका दिखाता है दिखता है पुन्नात पूर्ण जो कहा वो पुन्न ब्रह्म शुद्ध से कार्य का ब्रह्म पृथक होता है उपा का भेद होता है पूर्ण से पूर्णमादय उसके पुन्नत्व को लेकर के कार्य उपाधिक में उसमें पूर्णत्व लेने पर नाम रूप निराकरण कर दिया एक ही पूर्ण रूप है एक ही तत्व है तो भी ऋतम पिबंतम कह करके जीव ईश्वर भेद करके कहा गया था तत्र इति तयो प्रथम ग्रंथोक्तय और आत्मनर मध्य जो ऋतम पिबंत कह करके एक आत्मा के परमात्मा दो कहे गए तत्र य उपाधिकृत संसारी उपाधि न कृत उपाधि कृत संसारी वास्तव संसार नहीं देहादि उपाधि के कारण संसारी सम्यक शरणम संसार श्री गत्यर्थ के जन्म मरण जरा व्याधि को प्राप्त करता है निरंतर जन्म मरण को प्राप्त करने वाला संसार संसारी है संसार दुख वाला विद्या विद्योर अधिकृत वही अधिकारी है संसारी अविद्या कर्म में अधिकारी और विद्या में अधिकारी दोनों में अधिकारी है अज्ञानी अधिकारी मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च वही मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अधिकारी संसार प्राप्ति के लिए अधिकारी वही जीव मनुष्य कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा वही पाप कर्म करेगा तो नरक जाएगा तो अधिकारी किसके लिए स्वर्ग नरक गमनाय ये स्वर्ग गमनाय नरक गमनाय च पाप कर्म करेगा तो नीचे जाएगा अवश्य ही वहां कोई रक्षा करने वाले नहीं है मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च अधिकारी विद्या से मोक्ष अविद्या से संसार कर्म करेगा संसार को प्राप्त करेगा तस्य तदुभय गमने साधनो रथ कल्प्यते दोनों मोक्ष प्राप्त करे अथवा संसार को प्राप्त करे जानने के लिए जैसे गमन के लिए साधन होता है रथ आदि इस प्रकार रथ कल्पना करते हैं आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च आत्मानं रथिनं विद्धि इस उपाधि के आत्मा रति है रथ वाला और रथ स्वामी रति रथ कौन है शरीरम रथमेव तो शरीर को रथ समझना रथ में बैठ कर जैसे जाते हैं शरीर में स्थित होकर के रथ को खींचते घोड़े आदि इस शरीर को इंद्रियों से खींच करके इधर उधर लेते हैं ये शरीर रथ के समान हो गया और रथ चलने के लिए घोड़े आदि तो इंद्रियों के समान हो गए सारथी कौन है बुद्धि तो सारथी विद्धि रथ में एक सारथी होता है बुद्धि रूप सारथी है और सारथी क्या करता है घोड़े को लगाम से बांध करके जब चाहेगा चलाएगा नहीं तो बंद करेगा हाथ में रखता है ब्रेक रखना के लिए जोर से खींचेगा तो दौड़ेंगे छोड़ देंगे तो खड़े हो जाएंगे तो उनका शिक्षा भी इस प्रकार है तो मन प्रग्रह में बस यहाँ लगाम है मन बुद्धि इंद्रियों को रोकने के लिए मन के द्वारा मन लगाम की जैसे ही आगे कहेंगे इंद्र घोड़े के समान है विषय मार्ग सब है भाष्य में रथ कल्प्यते उभय गमन साधन रथ है तत्र तम आत्मानम ऋतपम संसारिणम रतिनम रथ समिनम विद्धि जानी ऋतपम ऋतम पिबती ऋतपम ऋतप ऋत सत्य कर्मफल अवश्य भावी होने से ऋत कहा गया उसको पान करता है भोग करता है कर्मफल भोगने वाले संसारी जीव उसको कहा गया रति रथसामी तत्र तयोर द्वयोर मध्य दो आत्मा में तम आत्मानम रतिन विधि आत्मान रतिन दो आत्मा में जो कर्मफल भोगने वाले जीवात्मा ऋतप है संसारी उसको रति समझो रति का तो रथ स्वामी है रथ स्वामी नाम स्वामी नाम विधि रथ स्वामी जैसे धन स्वामी धन है रथो से सित रथि रथ स्वामी को समझो विधि का तो जान जानी जानो शरीरम रथमेव तो शरीर तो रथ है रथ होने के लिए रथ सादृश्य शरीर में है रथवद हय स्थानीय इंद्रिय मान तो शरीर से हय स्थानीय ही इंद्रिय ही हय है घोड़ा घोड़े स्थानीय हो गए इंद्रिय जैसे घोड़े खींचकर रथ को लेते हैं इंद्रिय घोड़े के जैसे दौड़ते हैं घोड़े जैसे दौड़ते घोड़े जितने जोर दौड़ते हैं इंद्रिय और दौड़ जोर से इंद्रिय दौड़ना और शीघ्र है शरीर यहाँ रहते हुए भी इंद्रिय दौड़ करके भाग जाते हैं घोड़े तो रथ में बंधे गए होते हैं बंधे होते हैं तो जाते गए ये भी इस प्रकार बंधे है दौड़ते इतने से शरीर यहाँ होते हुए भी कहीं जा दूसरे स्थान पहुंच गया मन भी उनके पीछे शरीर सामने है किंतु स्वयं इंद्र कहाँ मन कहाँ कुछ सोचता है मन कहाँ भाग गया तो मन जिसको विषय करता मन वहाँ भाग गया शरीर को खींचते इंद्रिय आता शरीर से रथ को जैसे रथबद्ध घोड़े के स्थानीय इंद्रिय इंद्रिय से आकृष्यमान होने से सर हो गया रथ बुद्धि तुम सारथ्यम विधि बुद्धि तु बुद्धि अध्यवसाय लक्षण अध्यवसाय लक्षणम स्वरूपमेस्या निश्चयात्मिका बुद्धि है अंतकण एक ही है वृत्ति को लेकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम हो जाता है वही संकल्पात्मक मन है निश्चयात्मिका बुद्धि अध्यवसाय निश्चय स्वरूप बुद्धि सारथी विद्धि वो सारथी समझो क्योंकि बुद्धि नेत्री शरीर शरीरस्य बुद्धि है नेत्री प्रधान यस्य बुद्धि चलाने वाला जैसे सारथी रथ को चलाने वाला प्रधान है बुद्धि रूप नेत्री प्रधान है शरीर का शरीर को चलाने प्रधान है बुद्धि वही लेने वाला पहुंचाने वाला बुद्धि शुद्ध होने पर मन को भी रोकता है इंद्रिय को भी रोकती है बुद्धि सारथी के समान इसलिए शुद्ध बुद्धि होने पर ही दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया अग्र सूक्ष्म बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान होता है अरे बुद्धि यदि दूषित है तो आगे कहेंगे सारथी यदि शिक्षित नहीं बुद्धि लेकर नरक पहुंचा देगी सारथी ठीक है तो रथ को ठीक मार्ग में चलाएगा नहीं तो जो गाड़ी चलाने वाले यदि ठीक नहीं चलाते तो गाड़ी को गाड़ी मालिक को कभी कभी स्वयं सबको समाप्त कर देते हैं ये इसी प्रकार ही बुद्धि है बुद्धि तो स्वयं समाप्त नहीं होगी रथ को समाप्त कर देगी फिर लेकर के दूसरे थाने पहुंचा देगी बुद्धि नेत्री प्रधानता तो सर्वस्य ये हो गया बुद्धि होगी सारथी सारथी नेत्री प्रधान है रथ रथ जिस प्रकार सारथी नेत्री प्रधान सारथी है नेता सारथी नेता सारथिश्च सो नेता च सारथि नेता सारथि रूप नेता प्रधानम यस्य नहीं तो नेतृणाम अधि प्रधान नेतृ प्रधान सारथिरेव नेतृ प्रधान यस्य स सारथि नेतृ प्रधान लेने वाले चले आने वाले जितने हैं नेतृणाम प्रधान नेतृ प्रधान लेने वाले इंद्रिय मन सो भगाते हैं उनमें प्रधान होती सारथी तो घोड़े भी है लगाम सब किंतु सारथि प्रधान है इसी प्रकार यहाँ भी बुद्धि नेत्र प्रधान नेत्रिणाम प्रधान नेत्र प्रधान बुद्धि नेत्र प्रधान ये यस्य शरीरस्य तत्शरीरम बुद्धि नेत्र प्रधान नेता में प्रधान है बुद्धि नेता मतलब लेने वाले नियम प्रापण से त्रिज और से नेत्री बनती है लोग में कहते नेता राजनीति नेता है नेता है नियम प्रापण से लेने वाले सब को चलाने वाले इसी प्रकार रथ को चलाने वाले जो नेत्री है नेता है उनमें सारथी जिस प्रकार रथ में प्रधान यहाँ बुद्धि प्रधान है सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यमेव प्रायण जितने देह में कार्य होता है बुद्धि कर्तव्य बुद्धि के द्वारा ही होता है बुद्धि से ही विचार कर करता है कुछ शब्द प्रयोग करता है बुद्धवा शब्दान प्रयुक्ते बुद्धि से विचार कर समझ करके जान करके कहता है शब्द प्रयोग का कारण भी ज्ञान है बुद्धि से ज्ञान होता है ज्ञान पूर्वक शब्द प्रयोग करता है शब्द प्रयोग हेतु होता ज्ञान कुछ शब्द कहने के लिए उसके पहले उसका ज्ञान कभी-कभी तो ज्ञान वास्तव ज्ञान से शब्द प्रयोग करता है वो शब्द होता है प्रमाण हो जाएगा अब भ्रांति से कोई शब्द प्रयोग करेगा रज्जु में सर्प देकर आया सर्प सर्प का तो शब्द प्रमाण है ना नहीं हाँ, प्रमाण नहीं होगा स्वयं भ्रांत है तो शब्द प्रमाण हो जाएगा कभी-कभी देखा यथार्थ देखा रज्जु है सर्प नहीं किंतु सर्प जैसे दिखता है तो लोगों को डराने के लिए सर्प सर्प कहता है यथार्थ तो दर्शन हुआ किंतु भ्रांति दूसरे को ठगना चाहता है विप्रलिप्सा विप्रसाद ठगने की इच्छा से कह दिया वह अप्रमाण होता है तो बुद्धि से प्रयोग करता जब कहता है सर्प सर्प रज्जु को देखा और सर्प सर्प कहता है ये सर्प कहने के लिए भी सर्प ज्ञान कारण है रज्जु दे करके सर्प सर्प कहता है सर्प सर्प कहने के लिए वो ज्ञान कारण कौन सा ज्ञान होगा आहार्य ज्ञान बाध इच्छा इच्छाजन्य ज्ञान जानता है सर्प नहीं है रज्जु है किंतु दूसरे को ठगने के लिए आरोप करके स्वयं इसको कहते आहार्य ज्ञान आहार्य ज्ञान है स्वयं कल्पना करके दूसरे को ठगने की इच्छा से कहता है बाध कालीन इच्छा जन्य ज्ञान बाध उसका अभाव निश्चय है सर्प रज्जु है उस समय स्वयं कहता है इच्छा करके सब को ठगने के लिए कहता है सर्प है सर्प है बड़ा सर्प है लोग डरेंगे अभी सर्प सर्प कहेंगे कितने लोग भाग जाएंगे रज्जु सर्प से भी डरते हैं <laughs> रज्जु सर्प तो ही वास्तव सर्प के बाद सर्प जहाँ है ही नहीं सर्प सुना देखा भय लगता है तो ये शब्द प्रयोग करने के लिए ज्ञान कारण और कुछ भी करने के लिए बुद्धि से ही तो बुद्धि कर्तव्य है बुद्धि से निर्णय करेंगे और ऐसे करना भी चाहे शब्द प्रयोग करने के लिए कुछ करने के लिए मनपूतम समाचरित दृष्टिपूतम न्यसत पादम वस्त्रपूतम पिबे जलम सत्यपूतां वदेद वाचम मनपूतम समाचरेत सत्य से पवित्र करके शब्द प्रयोग कहे और कुछ आचरण करने के लिए मनपूतम मन से सोच विचार करके फिर करे सोच विचारने के आवे से कुछ करते हैं कुछ कोई जो अंदर थोड़ा राजगुण ज़्यादा होता है कुछ ना कुछ कर देते हैं घमंड ज़्यादा होता है फिर बाद में पश्चाताप होता है जो पहले कर लिया तो उसके अनुसार आगे चलो कुछ बड़े कर देंगे आगे नहीं चल पाएंगे ये इसलिए आवेश में आकर के कुछ नहीं करें रजोगुण अधिगुण शिष्य होता आवेश हो जाता है कुछ ना कुछ कर दिया मन से विचार करके सोच विचार करके करना चाहिए सोच विचार करे थोड़े ठंडा हो के क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ व्यवहार करते समय बुद्धि पूर्वक होता है बुद्धि से विचार करके करे तो बहुत ठीक होता है और जब क्रोध हो जाता है मन से करता है और बुद्धि उस समय काम भी नहीं करती बुद्धि काम करने पर भी मन उसको नहीं मानेगा <laughs> ऐसे सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्य में प्रायण ज्यादातर इसलिए जितने सब कार्य करने वाले समय बुद्धि प्रदान हो गई जैसे रथों को चलाने वाले घोड़े तो है सारथी को परिश्रम नहीं करना पड़ता घोड़ा खींचते हैं सारथी कभी रथों को खींचता है क्या नहीं खींचने पर भी वो रथों को जहाँ लेना चाहता लेता है रखना चलाना सब उसके अधीन है प्रधान हुआ ये दिखाते सारथी बुद्धि प्रधान कैसे देहगत कार्य जो देह देह रथ स्थानीय हो गया उसका कार्य जो रथ चलना खड़ा होना ये सब जिस प्रकार सारथी के द्वारा यहाँ बुद्धि कर्तव्य में प्राय न अधिकांश और कुछ कार्य होता है अपनी इच्छा के बिना भी होता है मन संकल्प विकल्प विकल्प आदि लक्षणम प्रग्रहम रसना विद्धि मन संकल्प विकल्प आदि संकल्प विकल्प संशय आदि लक्षण जिसका स्वरूप प्रग्रह लगाम लसना रज्जु है बांध कर रखते हैं विधि मनसा ही प्रगृहितानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रसन एव स्वाहा मन प्रकर्षण गृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि श्रोत्रादि इंद्रिय मन से प्रगृहित प्रकर्षण गृहित मन उनको ग्रहण कर रखता है मन से ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है मन पूर्वक मन के बिना नहीं बाहर कुछ दिखता है तो भी मन यदि वहां नहीं तो कुछ नहीं होता है मन जो उसके पीछे भागा इंद्रिय बाहर जाती है मन भी उसे भागा तो बुद्धि को भी खींच लेता है विवेक काम नहीं करता है तो मन से प्रगृहितानि नहीं मन से रखना खींच कर रखते श्रोत्र आदि को इसलिए इंद्रियों को जीतने के लिए मन से ही निश्चय करके बुद्धि से यही करना है उधर देखना नहीं सुनना नहीं सोचना नहीं ऐसा अभ्यास करने से करणानि थे इंद्रियों की प्रवृत्ति होती मन के द्वारा जिस प्रकार आए व स्वाहा रसना से सारथी खींच कर रखने पर चलते हैं खड़े होते हैं जैसे चाहता है जैसे घोड़े की प्रवृत्ति रसना के द्वारा लगाम के द्वारा ऐसे इंद्रिय की प्रवृत्ति मन के द्वारा होने से मन लगाम स्थानीय समझो टीका में आत्मा रतस्वामी यह कल्पित तस्य भोक्तृत्व च न स्वाभाविकम इत्याह आत्मा है जीव जो कर्म फल भोगने वाला ऋतम पिबंतों में जो कहा गया कर्म फल भोगने वाला संसारी जीव वही रथस्वामी है शरीर वाला शरीर ही जीव रथ स्वामी यह कल्पित रथ स्वामी रूप से कल्पित और जीव रूप से भी कल्पित है पारमार्थिक चेतन है वो कल्पित है जो जीव है तस्य भोक्तृत्वम च रक्ति शब्द से जीव को कहा गया और ऋतम पान करता कर्म फल भोगने वाला वस्तुतः तो इसे लगता है कि मैं कर्म करता हूँ कर्म फल सुख दुख भोगने वाला अपने को मानता है जीव अज्ञान के कारण अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं है अज्ञान है तो देहादि में हम बुद्धि करता है देहादि के धर्म को आत्मा में आरोप करता है जीव देहादि के धर्म जन्म मरण भी देह का है कर्म करता है आत्मा में सुख दुख अंतकरण में है करता है कल्पना अपने में मैं सुखी मैं दुखी और कृत पिपाशा प्राण का धर्म है ये सब के साथ तादात्म अध्यास एकत्व तो भ्रम होता है तब शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि धर्म को आत्मा में आरोप करता है तो मैं करता मैं भोक्ता ऐसा मानता है अनादिकाल से वास्तव आत्मा निष्क्रिय है ना तो उसमें कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है कर्तृत्व होगा तो भोक्तृत्व होगा सुख दुख साक्षात्कार जो भोग कहते तार्किक लोग तो आत्मा में मानते हैं ज्ञान आत्मा में शुद्ध जो वास्तव आत्मा है उसके ज्ञान नहीं होने से आत्मा में मानते हैं तभी तो आत्मा का भेद कल्पना करते हैं नया शास्त्र में पारमार्थिक जो आत्मा है अद्वितीय ब्रह्म है उसमें कोई धर्म नहीं है और जिस आत्मा में भेद कल्पना करते हैं वो चिदाभास रूप आत्मा है शुद्ध आत्मा नहीं है चिदाभास अनेक है अंतकण बहुत होने से सब के अंतकण में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास है उसको ही जिसको लोक में कहते जीव अनेक जीव दिखते हैं अनेक चिदाभास को लेकर के अनेक जीव व्यवहार होता है बिंब एक होने पर भी चंद्र आकाश में अनेक घड़े में जल भरने पर सब में प्रतिबिंब दिखते हैं अलग प्रतिबिंब अनेक प्रतिबिंब को जो मानता है चंद्र को कहता तो अनेक चंद्र है बच्चा कहता चंद्र बहुत है सब घड़ा में चंद्र है बहुत चंद्र है वो नहीं जान कर बिंब रूप चंद्र को नहीं समझ करके चंद्र को तो थोड़ा समझ लेता है किंतु आकाश जल में जो आकाश का प्रतिबिंब दिखता है कहता है वही तो आकाश है और कहाँ आकाश है घड़ा में आकाश कौन सा जो आकाश दिखता है इसी प्रकार चेतन सर्वव्यापक है वो समझ नहीं आता सर्वव्यापक चेतन कैसे है दीवाल में भी चेतन है मनुष्य में पशु में भी चेतन है कोई फिर समझ करके कभी कभी सोचते चलो ये मनुष्य में दीवाल में पत्थर में चेतन भले रह जाए किंतु शून्य स्थान में चेतन कैसे रहेगा चेतन को रखने के लिए कुछ तो आधार चाहिए शून्य स्थान में आकाश से बहुत दूर में वहां चेतन कैसे रहेगा ये लगता है कि जैसे घड़ा आदि रखने के लिए कुछ तो अधिकरण चाहिए चेतन भी रखने के लिए कोई अधिकरण चाहिए पत्थर में चेतन आ जाएगा मनुष्य चेतन आ गया पशु में रह गया ठीक है आकाश में कैसे चेतन रहेगा नहीं रहेगा मतलब गिर जाएगा सर्वव्यापक समझ नहीं आता है सर्वव्यापक चेतन जब समझ ले तो ये जीव शरीर में चेतन वो नहीं समझने से वो जीव शरीर को देखा कहते ये सो जीव है किसको लेकर जीव कहते हैं चिदाभास को लेकर के शुद्ध चेतन को नहीं समझ करके चिदाभास को लेकर के इसको कहते जीव उसी को आत्मा मान करके उसमें सुख दुख ज्ञान बुद्धि सुख दुख इत्यादि मानते हैं तार्किक लोग शास्त्रकार भी जितने दर्शन है छह से षड दर्शन है अन्य नास्तिक दर्शन भी है सब दर्शन अद्वैत साम्राज्य ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी सोपाने के समान है अलग-अलग दर्शन का कुछ-कुछ उपयोग है उसी उपाय को लेकर के पूर्व पूर्व निराकरण करके आगे पहुंचाना ऐसे पहुंचा करके अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए आचार्य बड़े-बड़े महर्षि लोगों ने अलग-अलग दर्शन बनाया तार्किक लोगों ने आत्मा में अनेकत्व तो कहा कर्तृत्व तो तो मानते हैं किंतु जो लोग आत्मा को परमाणु रूप है देह के परिमाण मानते हैं उनका खंडन किया उनका अच्छी तरफ से युक्ति से खंडन करके उनको चुप कर दिया आत्मा अनुरूप नहीं है और आत्मा देह के परिमाण वाला भी नहीं है और देहादि से विलक्षण है देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इनसे भिन्न है ये भी तार्किकों ने सिद्ध किया क्योंकि बहुत लोग चार भाग लोग देह को आत्मा मानते हैं कोई इंद्रियों को कोई मन को कोई बुद्धि को ये अलग-अलग मानने वाले बौद्ध लोग बुद्धि को क्षणिक क्षणिक विज्ञान अलग अलग जितने मत है उस सब का खंडन करके देहादि से विलक्षण आत्मा ये तार्किक न्यायिक लोगों का का दान है उन्होंने सिद्ध किया अरे वेद को प्रमाण नहीं मानते बहुत लोग ये तार्किक न्यायिक लोग और मीमांसक कुमार भट्ट आदि सावर स्वामी आदि ये प्रयास करके ये क्या शब्द प्रमाण सिद्ध किया जो लोग शब्द प्रमाण नहीं मानते उनको सांख्य दर्शन में भी आएगा शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे तो तुम व्यवहार नहीं कर सकते हो कोई लोग अनुमान प्रमाण नहीं मानते प्रत्यक्ष कहते सांख्य तत्व को वाचस्पति ने सिखाया अनुमान प्रमाण तो पशु पक्षी भी अनुमान करते हैं अनुमान प्रमाण तुम नहीं मानोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो ना शब्द प्रयोग कर सकते ना खा सकते हो खाते हो जो कुछ मिलेगा सो खा लेते क्या जो सामने आएगा कोई खा लेगा इतना है विवेक नहीं तो विचार कर खाता है कौन इष्ट कौन अनिष्ट देखते समय ये इष्ट साधन कैसे निश्चय होगा अनुमान करना पड़ेगा पहले में ये फल खाया था अब ये वो इष्ट साधन ये भी फल हो भोजन हो भूख लगती भोजन सामने आ गया तो भोजन करने पर तृप्ति होगी क्षुधा निवृत्ति होगी कैसे पता चला प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष तो भोजन दिखता है क्षुधा निवर्तक तो उसमें दिखता है क्या अनुमान करेंगे इदम क्षुधा निवर्तकम भोजनम पूरा भोजन भोजनवद अनुमान नहीं करेंगे तो नहीं खा सकते हो इसी प्रकार अनुमान प्रमाण सिद्ध करने के लिए शब्द प्रमाण सिद्ध करने के लिए और वेद सत प्रमाण है नित्य है उसकी सिद्धि के लिए मीमांसा आदि में बड़े-बड़े बहुत करके सब का अन्य मत का खंडन किया ऐसे करके आगे आगे जा करके फिर सांख्य मत बताएंगे आत्मा में कर्तृत्व है किंतु भोक्तृत्व है किंतु कर्तृत्व नहीं कर्तृत्व बुद्धि में है ये सांख्य दर्शन फिर वेदांत कहेंगे यदि कर्तृत्व नहीं तो भोक्तृत्व कैसे होगा कर्म कोई करेगा फल कोई दूसरा भोगेगा ये तो नहीं हो सकता है कर्तृत्व तो भी नहीं भोक्तृत्व तो भी नहीं पहले कर्ता सिद्ध कर दिया कर्ता शास्त्रार्थ बत्वात ब्रह्म सूत्र आया आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करके किस आत्मा में कर्तृत्व जो आत्मा में कर्तृत्व कल्पित है कर्तृत्व वास्तव नहीं है यथा च तक्षा उभयता कह करके वो कर्तृत्व उपाधि के कारण और भोक्तृत्व भी उपाधि के कारण सोपाधि के आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है जीव का जो वास्तव स्वरूप निरुपाधिक आत्मा वो ना तो करता है ना तो भोगता है पहले रितम पिबंत कह करके कर्म फल भोगता से कहा गया था अब यहाँ कहते वस्तुतः उसमें भोक्तृत्व वास्तव नहीं है कल्पित जीव उसमें रितम पिबंतम कह करके कर्म फल का भोगता है ये कहा गया था किंतु भोक्तृत्व च न स्वाभाविकम इत्या स्वभोक्तृत्व जीव में स्वाभाविक वास्तव नहीं है औपाधिक है उपाधि के कारण जैसे स्फटिक है स्फटिक शिला जपा कुसुम के पास देख रखने से लाल दिखेगा वो लाल वर्ण स्फटिक में स्वाभाविक है नहीं स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक होता तो पुष्प को हटा देने पर दिखना चाहिए जपा कुसुम हटा देंगे तो स्फटिक लाल दिखता है ना नहीं दिखता है स्वाभाविक नहीं होने से इसी प्रकार आत्मा में भौतिक कर्तृत्व तो स्वाभाविक नहीं है ये श्रुति प्रतिपादन करती है इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याहुर मनीषिण इंद्रियाणि हयान आहु ऐसे मनीषिण बुद्धिमान लोग कहते इंद्रिय घोड़े के समान है रथ को खींचने के लिए हयान आहु और विषयास्तेषु गोचरा इनमें गोचर विषय विषय रूप शब्द स्पर्श आदि मार्ग जैसे घोड़े खींच करके रास्ता में लेते हैं और इंद्रिय खींच लेते हैं विषय में रूप रस विषय में लेते हैं और भोक्ता कौन आत्मा इंद्र मन युक्तम भोक्ता इत्याहु केवल आत्मा भोक्ता नहीं इंद्र मन युक्त होकर के उनकी उपाधि युक्त होकर के सो उपाधि का आत्मा भोक्ता है शुद्ध आत्मा नहीं इति नाहु बुद्धिमान लोग कहते हैं भाष्य में इंद्रियाणि चक्षुरादिनी हयानाहु इंद्रिय को हय घोड़े कहते आओ कौन कहते हैं रथ कल्पना कुशला रथ कल्पना में जो कुशल है शरीर को रथ कल्पना करके इसको जानने वाले जो रथ है रथ शरीर को रथ रूप कल्पना करके जो कहा गया उसमें सादृश्य को लेकर के कहा गया तो वहाँ चक्षुर आदि को घोड़े स्थानीय कहा गया आया ना रथ कल्पना जो कुशल कहते हैं ये वेद में इसे कहते हैं अर्थात कर जानते हैं उन लोग घोड़े इंद्रिय इंद्रिय घोड़े के समान शरीर रथ आकर्षण सामान्य तो दोनों में सामान्य सादृश्य है घोड़े रथ आकर्षण करते हैं इंद्रिय शरीर आकर्षण करने वाले शरीर रूप रथ शरीर और रथ दोनों का आकर्षण सामान्य घोड़े और इंद्रिय दोनों में है इसलिए इसी सादृश्य को लेकर के और घोड़ा शब्द से चक्षुरादि को हयाना कहते हैं तेसु इंद्रेशु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान मार्गान रूपादिन विषयान विधि तेसु गोचरान तेसु इंद्रिय इंद्रेशु इंद्रिय में मार्ग कौन है घोड़े के लिए तो मार्ग रास्ता है इंद्रिय के लिए कौन मार्ग है कहाँ इंद्रिय लेते हैं किस मार्ग में हयत्वेन परिकल्पितेषु इंद्रेशु घोड़े रूप से कल्पित हो गए इंद्र रथ का तो घोड़े है शरीर को रथ रूप से कल्पना करके उसमें घोड़े रूप से कल्पना की गई किन की इंद्र को हयत्व ने परिकल्पित जो इंद्रिय और इंद्रिय में गोचरान का तो मार्गान मार्गान क्या है रूपादिन विषयान विधि विषयान तेषु गोचरान गोचरान मार्गान विषयान विधि विषय रूपादि विषय रूपादि को मार्ग समझो आगे आत्मेन्द्रिय मनोयुतम भोक्ता आत्मेन्द्रिय मनयुक्तम शरीर इंद्र मन विषयितम संयुतम आत्मान भोक्ता इत्याह शरीर इंद्रिय मन से युक्त ये आत्म शरीर इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोक्ता समझना आत्मेन्द्रिय मन युतम इंद्र मन युतम शरीर इंद्र मन भी विषयितम शरीर इंद्र मन से युक्त संयुतम आत्मान भोक्ता इति इसको भोक्ता कहते वही संसारी है शुद्ध आत्मा नहीं शरीर इंद्र मन प्राण से युक्त आत्मा भोक्ता है संसारी त्याहु इसको संसारी भोक्ता संसारी कहते त्याह मनुष्यण विवेक लो विवेक लो कहते टीका में मनोयुक्तम इति औपाधिके भोक्तृत्व अन्य व्यतिरेको शास्त्रम च प्रमाणमित्याह आत्मा में भोक्तृत्व औपाधिक है आत्मा में भोक्तृत्व औपाधिक उपाधि प्रयुक्त उपाधि के कारण भोक्तृत्व है उसमें क्या प्रमाण है क्या प्रमाण है और अन्य व्यतिरेकौ शास्त्रम च अन्य व्यतिरेक भी प्रमाण है शास्त्र भी प्रमाण है अन्य व्यतिरेकौ शास्त्रम च प्रमाणम औपाधिक भोक्ता है आत्मा इसमें अन्य व्यतिरेक भी प्रमाण है देहादि संबद्ध होने पर ही सुख दुख होता है तदभावे तदभाव व्यतिरेक सरस्वती में सुख दुख नहीं होता है देहेंद्र मनुष्य युक्त होने पर ही सुख दुख भोग होता है तदभावे तदभाव व्यतिरेक तो औपाधिक इंद्र मन युक्त होकर के आत्मा में सुख दुख होता है तो औपाधिक आत्मा में सुख दुख है शुद्ध में नहीं है और शास्त्रम च प्रमाणम न केवलस्य नहीं केवलस्य आत्मन भोक्तृत्वमस्ति केवल से आत्मन भुक्तत्व तो नास्ति शुद्ध आत्मा में भुक्तत्व तो है ही नहीं तो भोक्ता में सुख दुख हम सुख के हम तो क्या अनुभव तो होता है बुद्धि आदि उपाधि कृतमेव तस्य भुक्तृत्वम तस्य आत्मन भुक्तृत्वम बुद्धि आदि उपाधि कृतमेव बुद्धि आदि उपाधि भी कृतम बुद्धि आदि भी उपाधि भी बुद्धि आदि उपाधि के द्वारा ही आत्मा में भोक्तृत्व है केवल शुद्ध में नहीं है तथा च श्रुत्यंतरम अन्य व्यतिरिक्त दे देखा बुद्धि आदि सत्य सुख दुख सत्वम तद अभाव तद अभाव समाधि काल में सुश्रुति अवस्था में बुद्धि आदि लीन हो गई सुख दुख नहीं होता है श्रुत्यंतरम केवल से अभोक्तृत्वमेव दर्शयति श्रुति कहती केवल आत्मा भोक्ता नहीं है केवल से आत्मन अभोक्तृत्वम दर्शयति श्रुति कहती है ध्यायति व लेलायति व इत्यादि यही श्रुति है ध्यायति इव लेलायति इव बृहदारण्य के उपनिषद में कहा गया अन्य व्यतिरिक से अनुमान अनुमान ऐसे होगा हाँ नहीं तो अन्य व्यतिरिक नहीं होना चाहिए अर्थापत्ति जो अनुमान माने अनुमान हो जाएगा जैसे एक अन्य व्यतिरिक मृत घट का कारण मृत सत्य घट सत्य मृत भाव घट भाव ऐसे मृत घट का कारण होगा तो मृत घट कारणम अन्य व्यतिरिक सत्वात अन्य व्यतिरिक वत्वात कार्य से अन्य व्यतिरिक हेतु क्योंकि जिसमें अन्य व्यतिरिक होता है उसका कार्य का निश्चय होता है तो घट में दृष्टांत करके अन्यत्र दिखाएंगे यहाँ भी दिखाएंगे लोक में प्रसिद्ध है अन्य व्यतिरिक देख करके कार्य का भाव निश्चय करके प्रभुत्व तो होते हैं कुलाल घट बनाने के लिए मिट्टी लाता है तो अन्य व्यतिरिक के द्वारा कार्य का भाव निश्चय है निश्चय करके पहले तो उसको स्मरण हो जाएगा पहले बनाया था किंतु अन्य व्यक्ति से कार्य कारण भाव अन्य लोग को निश्चय होता है अन्य लोग को निश्चय करते इसमें घट मिट्टी को दृष्टांत देकर अन्यत्र भी दिखाएंगे सर्वत्र न केवल ध्यायति व लीलायति व ध्याति जैसे ध्यान करता जैसे बुद्धियादि स्थिर हो जाने से बुद्ध्याम ध्यायंत्याम आत्मा ध्यायती इव इवदन से वस्तु तो ध्यान करते तो आत्मा में नहीं है इव धायति ये ध्यान करते तो धायति ध्यान करता है जैसे ध्यान करता जैसे कहन से ध्यान करते तो आत्मा में नहीं और लीलायति का तो विषम चलती अत्यंत चलता है चलती व वस्तु तो चलती ऐसा भी नहीं बुद्ध्याम चलन्त्याम आत्मा चलती लीलायति व चलता जैसे जैसे जल में कंपन हुआ प्रतिबिंब आकाश में कंपन दिखता है चंद्र में कंपन दिखता है जल स्थिर हो गया तो कहता वसा कहता आकाश स्थिर हो गया घड़ा में जल है जल में आकाश का प्रतिबिंब उसको आकाश समझ करके जो जल हिलता है कहता वसा कहता आकाश हिल रहा है चंद्र भी हिल रहा है और जल स्थिर हो गया कहेगा आकाश भी स्थिर हो गया चंद्र भी स्थिर है प्रतिबिंब को लेकर के इसी प्रकार बुद्धि आदि जल रूप उपाधि का धर्म चंद्र में आकाश में जैसे कल्पना करते हैं इसी प्रकार शरीर बुद्धि आदि का धर्म आत्मा में कल्पना करके कर्तृत्व भोक्तृत्व कल्पना करते हैं टीका में वैष्णव पद प्राप्ति श्रुति अनुपपत्यापि न स्वाभाविकम भोक्तृत्व वाच्यम आत्मा में भोक्तृत्व वास्तव नहीं होगा यदि वास्तव भोक्तृत्व होगा वास्तव धर्म की निवृत्ति कैसे होगी वास्तव यदि उसका धर्म निवृत्ति नहीं होगी अग्नि रहे और उष्ण स्पर्श नहीं हो नहीं हो सकता है कुछ प्रतिबंध रखेंगे तो प्रतिबंध जबता है तो हट गया तो गर्म में वैष्णव प्राप्ति श्रुति श्रुति कहती वैष्णव पद की प्राप्ति है ये इसको लेकर करके भारतीकार ने कहा आत्मा से माँ कांक्षी तरी मुक्तता नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते दौष्ण भद्रवे यदि कर्ता भूता आदि है मुक्ति की नहीं चाहो तो यहाँ यहाँ कहते हैं वैष्णव पद की प्राप्ति होती श्रुति में कहा गया तो परब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति जो कही गई है वो यदि स्वाभाविक भोक्तृत्व होगा तो ये संभव नहीं है इसलिए एवं च देव अर्थ कल्पना वैष्णव से पद से आत्मतया प्रतिपत्ति रूपपद्यते नान्यथा स्वभावन अतिक्रमात् ओम सहना भवतु